उसमें पदभाष्य हो गया था वाक्य भाष्य है उन्नीस हाँ, हाँ, आत्मन चेदरूपत्वात् शब्द उपलब्धि रूपतया अवभाषकत्व न स्वतः श्रोत्र से अचिद रूपत्वा श्रोत्र में अवभाषकत्व उपलब्धा के तादात्म से यदि हुआ तब उपलब्धा जो है आत्मा उसमें भी अवभाषकत्व आएगा कि अन्य के अधीन होगा अन्य में अन्य अधीन तन अवस्था दोष प्राप्त है ये शंका का निवृत्ति करते हैं आत्मन से चिद रूपत्वात् चिद रूप ज्ञान रूप सप्रकाश है सप्रकाश होने से उसका स्वतः सत्ता प्रतीति अन्य की अपेक्षा नहीं है टीका में सप्रकाशत्वाद उपलब्ध हो सत्ता प्रतीतुर अनन्यायतत्वा नानवस्थे तीर्थ जड़ होने के कारण उसके प्रकाश के लिए उसकी सत्ता भी जड़ की सत्ता स्वतः नहीं है अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं अधिष्ठान सत्ता अध्यस्त में दिखती है जितने जड़ सब अध्यस्त है अध्यस्त हो तो सत्ता और प्रतीति के लिए अधिष्ठान सत्ता से जड़ की सत्ता अधिष्ठान की प्रतीति होने से अध्यस्त की प्रतीति राज्य में सर्प दिखता है भ्रांति काल में जब तक रज्जु सामने है तब तक सर्प दिखेगा रज्जु को कोई हटा दे रज्जु की सत्ता नहीं रहे तो सर्प की सत्ता नहीं सर्प दिखेगा नहीं इसी प्रकार रज्जु दिखती है तो सर्प दिखेगा रज्जु दिखती रज्जुत्वेन ज्ञान नहीं हो किंतु रज्जु की प्रतीति नहीं हो इंद्रिय सन्निकर्ष उसके साथ है प्रतीति होती तब सर्प की प्रतीति यदि रज्जु को ढाक दे व्यवधान कुछ हो जाए रज्जु की प्रतीति नहीं हो न तो सर्प नहीं दिखता है तो सर्प में जो सत्ता प्रतीति है दोनों अधिष्ठान सत्ता प्रतीति सापेक्ष है अधिष्ठान सत्ता हो तो सर्प की सत्ता रज्जु होने पर रज्जु की प्रतीति होने से सर्प की प्रतीति अध्यस्त वस्तु में सत्ता प्रतीति अन्य सापेक्ष है अन्य आदि नहीं किंतु चिद्रूप आत्मा स्वप्रकाश होने से उसकी सत्ता और प्रति अन्य सापेक्ष नहीं सत्ता और प्रतीति अनन्य आयतत्व अन्य आयतन अन्य आधीन नहीं है अनन्य आयत स्वतः सत्ता प्रतीति है अन्य सत्ता प्रतीति के अपेक्षा नहीं है इसलिए न अनवस्था उस अनवस्था दोष नहीं यदि यही अधिष्ठान आत्मा की सत्ता और प्रतीति अन्य सापेक्ष मानेंगे तब तो अनवस्था है अन्य सापेक्ष नहीं अनन्य आयत होने से अनवस्था दोष नहीं है फिर शंका करते भवत्व एवं अनवस्था भाव एवं अनवस्था भाव भवतो अनवस्था का अभाव अनवस्था नहीं है तो भी तथापि कथम श्रोत्र से श्रोत्रमिति आत्मा उच्यते इति आह ठीक है अनवस्था दोष नहीं किंतु श्रोत्र का श्रोत्र कहेंगे तो श्रोत्र का श्रोत्र कहेंगे तो आत्मा कैसे होगा आत्मा किसका श्रोत्र होता है आत्मा तो श्रोत्र नहीं श्रोत्र का श्रोत्र आत्मा कैसे इति है योत्र से उपलब्धित्वेन अभाषकत्व तद आत्म निमित्तवाद श्रोत्र से उच्यते योत्र से अवभाषकत्व शब्द का अवभाषक शब्द अवभाषक है उपलब्धित्वेन उपलब्धि रूप से उपलब्धा रूप से श्रवण इंद्रिय शब्द का उपलब्धा ऐसे भान होता है श्रोत्र उपलब्ध है शब्द का उपलब्ध उपलब्धित्वेन उपलब्धा रूप से श्रोत्र शब्द श्रोता रूप से शब्द का प्रकाशक होता है श्रोत्र में अवभाषकत्व ही उपलब्ध शब्द का उपलब्ध अर्थ शब्द का श्रोता श्रोत्रित्वेन श्रोता रूप से शब्द का अवभाषक प्रकाशक श्रोत्र वह आत्म सत् चैत आत्मनिमित्तत्वात् आत्मा के कारण आत्मा है उसका निमित्त आत्मा निमित्त तो यस्य शब्दाभाषक तो श्रोत्र में आत्मा निमित्त कहे इसलिए श्रोत्र का श्रोत्र कहा गया श्रोत्र में शब्दाभाषकत्व का निमित्त आत्मा होने से आत्मा को भी श्रोत्र का श्रोत्र कहा दिया टीका मैं तद आत्मनिमित्तत्वात् तस्य आत्मनिमित्तत्वात् तस्य से आत्मनिमित्तत्वात् आत्मनिमित्त कहे श्रोत्र से श्रोत्रमिति उपलक्ष्यते इसे उपलक्षण करके कहा जाता है जिसके कारण श्रोत्र में शब्द अभाषकत्व है वही आत्मा है इसे शब्द से शब्द इति उपलक्षण से कहते निर्विशेष चैतन्य मात्र उसका अर्थ है वस्तुतः तो श्रोत्र में कोई श्रोत्र का कोई श्रोत्र नहीं श्रोत्र में शब्द अभाषकत्व है उसका निमित्त होने से उसको सूत्र शब्द से कहा लक्षणा से चैतन्य मात्र ही है भाष्य में यथा क्षत्र से क्षत्रम यथा वो उदक औष्ण्यम अग्नि निमित्तमिति दग्धुरप्युदकस्य दग्धा रुच्यते यथा क्षत्र से क्षत्रम क्षत्र का क्षत्र क्षत्र सब को नियमन शासन करने वाले उसको भी शासन करने वाले है धर्म इसलिए क्षत्र से क्षत्रम का छत्र का भी छत्र है में यथा छत्र से छत्र जाति नियामकम कर्म छत्रमिति उच्यते यथा क्षत्र जाति का नियामक होता है कर्म क्षत्र क्षत्र का क्षत्र हुआ उसका नियामक कर्म धर्म यदि श्रोत्रादि साक्ष्य आत्मा अस्ति कथनतरी लोकायति का दे यदि श्रोत्रादि साक्ष्य आत्मा अस्ति कथनतरी लोकायति का आदे श्रोत्रादि से उपलब्धित्व व्यवहार इति आशंक्याः उदकमपि आगे पहले भाष्य में यथावा उदकस्य औष्ण्यम अग्नि निमित्तम जल है उसमें उष्ण औष्ण्यम उष्णत्वम जल में अग्नि निमित्तम अग्नि निमित्तम यस्य अग्नि निमित्तक अग्नि के कारण जल में उष्णत्व है स्पर्श उष्ण स्पर्श हो जाता है इति दग्धुरपि उदकस्य दग्धा अग्निरुच्यते जल गर्म हो जाएगा बहुत जोर गर्म हो जाएगा तो हाथ पैर को दाह करेगा जल दग्ध हो जाएगा दहन करता हो जाएगा जल वह बहुत गर्म हो जाएगा तो उसमें हाथ डुबाओ ठंडा लगेगा हम हम्म, बहुत गर्म जल हो गया दग्ध दग्धुरपि उदकस्य दग्धु दग्ध्री दह भस्मीकरण त्रिच प्रत्यय हो गया दग्धरी दादेर धातु घ दग्धरी सत्यं दग्धुर अपि उदकस्य दहन करने वाले जो जल है दग्धुर अपि उदकस्य वो अग्नि के निमित्त ही दग्धृत्व है जल में जल में दहन करते तो अग्नि निमित्त होने से अग्नि को भी उदकस्य दग्धा अग्नि रुच्यते दग्धुर अपि उदकस्य दग्धा उदक को भी दहन करने वाला अग्नि है दग्धुर अपि दग्धा अग्नि दग्धुर दग्धा दग्धुर दग्धा दहन करने वाले को भी दहन करने वाला दग्धुर अपि उदक से दग्धा अग्नि कहते टीका में कहा यदि आदि का साखी आदि में शब्द भाषकत्व का निमित्त कोई चेतन आत्मा साखी है कथंतरे लोकायति का आदि श्रोत्र आदि से उपलब्धित्व व्यवहार वो श्रोत्र को ही आत्मा मानने लेते वही उपलब्ध है सब इंद्रिय इंद्रियों का आत्मा मानने वाले लोकायति चार वाक्य में कोई तो देह का आत्मा मानता है कोई इंद्रियों का आत्मा मानता है कोई मनो का आत्मा मानता है आदि इंद्रिय में उपलब्धित्व व्यवहार क्यों आदि का जो साक्षात्मा अलग है इति आशंका उसका उत्तर देते हैं उदकमपि अग्नि संयोगात अग्नि रुच्यते तद्वत उदकमपि अग्नि संयोगात अग्नि उसको भी अग्नि कह देते हैं स्पर्श नहीं करो अग्नि है लोहा गर्म हो गया कहते स्पर्श नहीं करो अग्नि है लाल हो जाने से वो कहते अग्नि लोहा लाल हो गया उसको कहते अग्नि जल भी अति गर्म हो गया तो कहते अग्नि शब्द से कहते स्पर्श नहीं करो अग्नि है उदकम अपि अग्नि संयोगात अग्नि रुचते अग्नि संयोग के कारण जल भी अग्नि से कहा जाता कहा जाता है उसी प्रकार तद्वत तद्वत जो साक्षी है वह भी श्रोत्र शब्द से कहा जाता है श्रोत्र का श्रोत्र वो साक्षी है उस उसको ही श्रोत्र शब्द से कह देते हैं इसे उदकम अपि अग्नि संयोगात अग्नि रुचते तद्वत अनित्यम यत् संयोगात तो उपलब्धितम तत्करणम सूत्रादि अनित्यं सूत्रादि हे यत् संयोगात तो उपलब्धितं यत् संयोगा जिसके संबंध से उपलब्धितं सूत्र इंद्रिय में अनित्यं उपलब्धितं यत् संयोगात चेतन आत्मा साखी के संबंध से ही सूत्र में उपलब्धितं अनित्यं तत् कारणं वो कारण है यह संयोगात तो उपलब्धितम अनितम उपलब्धित्वम यत संयोगात तत्कर्णम आदि अनित्य जो उपलब्धित्व एक नित्य है ज्ञान रूपय अनित्य उपलब्धित्व है श्रवण इंद्रिय में तत् तत्संयोगात उपलब्धित्वम यत संयोगात उपलब्धित्वम तत्कर्णम आदि तद्वत उपलब्धि संबंधात श्रोत्रादि से उपलब्धित्व व्यवहारित था टीका में तद्वत उपलब्धि संबंधात श्रोत्रादिषु उपलब्धित्व व्यवहार तद्वत यत संयोगात उपलब्धि संबंधात संयोगात संबंध उपलब्धि चेतन आत्मा के संबंध से आदि में उपलब्धि तो व्यवहार हो जाता है आदि तो उसका कर्ण है उपलब्धि के संबंध से उसमें आदि में उपलब्धि तो व्यवहार हो जाता है वास्तव उपलब्धि तो सूत्र में नहीं है वो तो कर्ण है भवन मत तर नित्य उपलब्धि स्वभाव आत्मेति श्रोत्रादे कर्णत्वन स्याद आत्मा तो उपलब्धि रूप है ज्ञान रूप है आपके मत में अनुसार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उपलब्धि तो तो अनित्य नहीं उपलब्ध नित्य है तो उपलब्धि स्वभाव आत्मा यदि उपलब्ध अनित्य होता उसका कर्ण सूत्र होता आत्मा तो नित्य उपलब्धि ज्ञान रूप है ज्ञान रूप आत्मा का कर्ण सूत्र आदि कैसे होगा सूत्र आदि कर्ण तो न से आता अनित्य के लिए कर्ण चाहिए नित्य उपलब्धि स्वरूप ज्ञान रूप आत्मा उसके लिए तो कोई कर्ण नहीं चाहिए क्रियायां ही कर्णापेक्षा इति आकांक्षाया मह कोई क्रिया अनित्य क्रिया हो उसमें कर्ण की आकांक्षा होती कर्ण की आवश्यकता होती क्रिया हो तो क्रिया तो कर्म क्रिया है कारकजन्य क्रिया निवर्तकत्वम कारकत्वम क्रिया का जनक होता है कारक तो वहाँ करण की अपेक्षा है और नित्य उपलब्धि उसकी तो कोई करण की आवश्यकता नहीं इसलिए कहा अनित्यम य संयोगात उपलब्धित्व तत्करणम अनित्य उपलब्धित्व आत्मा में है यत् संबंधात सूत्र में उपलब्धित्व है उसका करण प्रमातुर यत संबंधात अनितम उपलब्धितम भवति बुद्धि परिणाम में तत्सूत्रादि करणम वृत्ति अपिशय भवति प्रमातुर यत संबंधात अनित्यम उपलब्धितम यत संबंधात उपलब्धित्वम यत संबंधात उपलब्धित्वम प्रमातुः प्रमातमे उपलब्धित्व अनित्य है नित्य उपलब्धि स्वरूप ही स्वयं स्वभाव है किंतु उपलब्धि तो अनित्व जिसके संबंध से इसका अर्थ करते हैं जो भाष्य में आया अनित्यम यह संयोगात उपलब्धित्वं सूत्र आदि अनितम उपलब्धित्व प्रमाता में यह संबंधात भवति प्रमाता में उपलब्धित्व कैसे होता है बुद्धि परिणामे ही बुद्धि का परिणाम अंतकरण का परिणाम होता है शब्दाकार परिणाम बुद्धि परिणाम से आत्मा में उपलब्धि तो अनित्य व्यवहार होता है बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य होकर के अंतकरण परिणाम रूप ज्ञान है उसके द्वारा उपलब्धि तो प्रमाता में है तत्श्रुत्रादि करणम सूत्रादि अलग पद है तत्श्रुत्रादि करणम विश्रुत्रादि करण है यत संबंधात आदि के संबंध से बुद्धि परिणाम होकर के प्रमाता चेतन में अनित उपलब्धित्व आता है यह संबंधा से इसलिए भाष्य में यह संयोगात उपलब्धित्व अनित्यतम चेतन नहीं लेकर के श्रोत्र संबंधात प्रमाता में श्रवणेन्द्र के संबंध से अनित्यम उपलब्धित्वम यस्मिगात तो अनित्यम उपलब्धित्वम प्रमाता में श्रोत्र के संबंध से आत्मा में अनित्य उपलब्धित्व होता है तत् करणम तस्य चेतन का करण नहीं करे तद एव करणम सूत्रादि जिस श्रोत्र के संबंध से चेतन आत्मा में उपलब्धित्व अनित्य होता है वह श्रोत्र ही करण है तत् सूत्रादि करणम तो अनित्यम उपलब्धित्वम कस्य किसमें प्रमाता में किसके संबंध से श्रुत्र के संबंध से प्रमाता में अनित्य उपलब्धित्व हुआ तत् श्रोत्रादि करणम करण में समास नहीं तत् श्रोत्रादि के साथ सतत श्रोत्रादि करणम ठीक है मैं बता दिया तो प्रमाता में जिसके संबंध से अनित्य उपलब्धित्व होता है किसके समय से श्रोत्र के समय से अनित उपलब्धि तो किस प्रकार अनित उपलब्धि तो परमात्मा में आएगा बुद्धि परिणाम ही श्रोत्र के संबंध होकर के श्रोत्र के द्वारा अंतकरण वृत्ति होकर परिणाम होकर के उपलब्धि तो आत्मा में वृत्ति है ज्ञान वृत्ति का आश्रय होता है अंतकरण अंतकरण के साथ अंतकरण तादात्म्य होकर आत्मा में परमात्मा में उपलब्धि तो अनित्य व्यवहार होता है तत्सूत्रादि करणम वो करण हुआ सूत्रादि करण कैसे हुआ उपलब्धित आत्मा नित्य है इसलिए क्या बुद्धिवृत्ति अपेक्षा भवती बुद्धिवृत्ति की अपेक्षा से करण होता है सूत्रादि उपलब्धि रूप ज्ञान रूप आत्मा का करण नहीं है आत्मा शब्द आकार बुद्धि की वृत्ति परिणाम होता है शब्द के साथ श्रवण इंद्रिय का संबंध होने पर अंतकण की वृत्ति शब्द आकार वृत्ति होती है जो बुद्धि वृत्ति है वो आत्मक ज्ञान की अपेक्षा करके श्रवण इंद्र को करण कहा वृत्ति ज्ञान वृत्ति में ज्ञान तो उपचार गुण प्रयोग होता है तो वृत्ति अपेक्षा करण होता है श्रवण श्रोत्र श्रोत्रादि संगते प्रमातरी अनित उपलब्धित्व तो संभवेपि तब असंग से साक्षिण कथम उपलब्धित्व तो व्यपदेश इतिहासं क्या है अभी श्रोत्र के संबंध होने पर श्रोत्र आदि संगत प्रमातरी प्रमाता में चेतन आत्मा में श्रवण इंद्र के साथ संबंध होकर के यह संयुगात उपलब्धितम प्रमात्मा में उपलब्धि तो हुआ प्रमाता है अंतकण विशिष्ट आत्मा को प्रमाता कहते हैं अंतकण अवच्छिन्न चैतन्य एक अवच्छेदवाद है एक आभासवाद है प्रतिबिंबवाद अंतकरण अवच्छिन्न चेतन को आत्मा कहते हैं अंतकरण उसका बुद्धि अवच्छिन्न चेतन आत्मा ये वाचस्पति मत के अनुसार अंतकरण बुद्धि अवच्छेदक जैसे घटा अवच्छिन्न आकाश को घटाकाश कहते हैं बुद्धि अवच्छिन्न आत्मा को दृष्टा प्रमाता जीव कहते हैं वही प्रमाता दृष्टा ज्ञाता है उसका निराकरण किया गया पंचदश में केवल अवच्छेद मात्र से वो जीव नहीं हो सकता है बुद्धि के द्वारा अवच्छिन्न होकर के वो जीव कैसे हो जाएगा यदि जीव हो जाएगा तो दीवाल अवच्छिन्न आत्मा भी जीव हो जाए वो तो भी अवच्छेदक है क्योंकि मापने के लिए मिट्टी के पात्र से मापो कांसे के पात्र से मापो परिणाम में क्या फर्क है तो फर्क नहीं तो फिर पूर्व से कहता है परिणाम में फर्क नहीं होने पर भी कांस्य पात्र में मानेंगे मापेंगे तो थोड़ा कांस्य में प्रतिबिंब दिखता है तो सिद्धांत कहता है प्रतिबिंब मान लिया मतलब वही प्रतिबिंब मानो तो बुद्धि अवच्छिन्न आत्मा को नहीं कहके गए बुद्धि प्रतिबिंबित चेतन को आत्मा बुद्धि में प्रतिबिंब चिदाभास उसको भी आत्मा कहा गया चिदाभास चिदाभास विशिष्ट बुद्धि प्रतिबिंब बुद्धि में प्रतिबिंब हुआ वही आत्मा है खाली अवच्छेद मात्र से नहीं है विवरण मत के अनुसार प्रतिबिंब मत है अंतकण प्रतिबिंबित होता है तो उसका नाम जीव हुआ और भारतीय कार कहते आभासवाद आभासवाद प्रतिबिंबवाद में दोनों पक्ष में तो प्रतिबिंब माना जाता है विवरण मात्र के अनुसार प्रतिबिंब बिंब से भिन्न कुछ है ही नहीं सत्य है आभासवाद में वार्तिकार भगवान कहते सुरेश्वराचार्य आभास है प्रतिबिंब मिथ्या है प्रतिबिंब को मिथ्या मानते आभासवाद के अनुसार विवरण मत में प्रतिबिंब सत्य है जो दिखता है दर्पण में कोई दर्पण में कुछ प्रतिबिंब नामक वस्तु नहीं मुख ही दिखता है मुख ही दर्पण में दिखता है इसलिए वो सत्य है और भारतीयकार कहते जो दर्पण में दिखता है वो मिथ्या है और अर्थ में कुछ नहीं थोड़ा प्रक्रिया भेद है विवरणकार भी कहेंगे दर्पण में जो मुख दिखता है वो दर्पण तत्वेन सत्य नहीं है दर्पण निष्ठत्वेन सत्य नहीं है ग्रीवास्तव मुख सत्य है दर्पण में दिखता है इसलिए वार्तिकार कहते दर्पण में जो दिखता है वो मिथ्या है विवरणकार कहते दर्पण जो दिखता है यही मुख दिखता है इसलिए सत्य है अब जो दर्पण तत्व ने कहे तो मिथ्या हो जाएगा थोड़ा सा अंतर हुआ प्रतिबिंबवाद वाद में अरे वाचस्पति मत है अवच्छेद बुद्धि अवचन आत्मा जीव है बुद्धि चली जाती तो जैसे घट को लेकर चला तो घटाकाश जहाँ घट गया उसके अंदर आकाश घटाकाश आकाश का गमन नहीं होने पर भी बुद्धि के गमन होने से घटा घटे गच्छति घटाकाश गच्छति इसे प्रयोग हो जाएगा इसलिए बुद्धि अवचन चेतन को आत्मा कहते यहां सूत्र आदि संबंधे प्रमातरि अनित उपलब्धित्व संभव आदि संबंध है प्रमातरी आदि के साथ संबंध हो गया प्रमाता का अनित उपलब्धित्व प्रमात में आ गया वृत्ति को लेकर के असंग साक्ष्य में कथम उपलब्धित्व व्यवहार यत्र तु भाष्य में का यत्र तु नित्यम उपलब्धित्वम चेतनात्मे उपलब्धित्व नित्य है अग्नावि वौष्ण्यम अग्नि में यह उष्ण्य स्वभावत है जल में तो अनित्य है अग्नि में स्वभावत है स नित्य उपलब्धि स्वरूपत्वात् दग्धाइव उपलब्धा उच्यते नित्य उपलब्धि स्वरूप होने से आत्मा को जैसे अग्नि को दग्धा कहते हैं इसे आत्मा को उपलब्धा कहते हैं नित्य उपलब्धि स्वरूप होने से उपलब्धा कहते उसमें नित्य उपलब्धि तो है उपलब्धा कहते हैं उक्तम अर्थम संक्षेपाह इस अर्थ को संक्षेप कर कहते हैं श्रोत्रादिषु श्रोतृत्वादि उपलब्धिर अनित्या श्रोत्र में श्रोतृत्व शब्द भाषकत्वम यह श्रोत्रात्वादि उपलब्धि अनित्य है ज्ञान श्रोत्रादि आदि पर से अलग-अलग टीका में दिया श्रोत्रादिषु निमित्तेषु सत्सु श्रुत्रादि निमित्त होने पर श्रुत्रादि है कर्ण कर्ण युक्त होकर के ही श्रुत्रादि संहते प्रमातरी आदि रूप उपलब्धि उपलब्धित्वम श्रुत्रादि संहते प्रमातरि प्रमातरी श्रोत्र से संगत होकर के मिल करके प्रमाता श्रोत्र के साथ संबंध होने पर प्रमाता में श्रुतृत्व आदि रूप उपलब्धि श्रुतृत्व आदि रूप श्रुतृत्व उपलब्धि ज्ञान है ज्ञान रूपे उपलब्धि तो व्यवहार होता है श्रोत्रादिषु शत्रुराति उपलब्धि अनित्या नित्या च आत्मनि आत्मा में उपलब्धि नित्य है अश्रोत्रादि निमित्त होने पर उपलब्धा में श्रुत्व तो अनित्य है वृत्ति को लेकर के अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रम इति अतः श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि अक्षराणाम अर्थानुगमाद उपपद्यते श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि मंत्र अर्थ अक्षर का इस अर्थ ज्ञान होता है क्या होता है निर्विशेषस्य उपलब्धि स्वरूपस्य से आत्मनो मनादि प्रवृत्ति निमित्तत्वम इति निर्विशेष जो उपलब्धि ज्ञान स्वरूप आत्मा सन्निधि मात्र से मन आदि का प्रवर्तक मन आदि प्रवृत्ति का निमित्त मन आदि प्रवृत्ति के निमित्त श्रोत्र आदि प्रवृत्ति के निमित्त श्रवण इंद्र का जो संबंध कहा वो आध्यासिक संबंध असंग आत्मा के साथ किसका कोई संबंध नहीं है श्रोत्र आदि निमित्त होने पर परमात्मा में श्रोतृत्व आदि उपलब्धि उपलब्धा कहते समन इत्यादि स्वयं अतिदिशति समन में इसे अर्थ समझना मन आदि स्वयं यथोक्तम इसी प्रकार समझना जैसे श्रोत्र का श्रोत्र अर्थ क्या मन का मन इस अर्थ करना श्रोत्र में शब्द भाषक सामर्थ्य आत्मा के कारण आत्मनिमित है मनन में संकल्प विकल्प करने का जो सामर्थ्य है आत्मा के कारण इसलिए मन का भी मन कह दिया न्याय साम्याद यथोक्तम व्याख्यानम दृष्टव्यम समान न्याय तर्क होने से श्रोत्र से श्रोत्र का जैसे व्याख्यान हुआ मन का मन भी इस प्रकार है नहि मनुष्य मनस्तम वाचो वाक्तम वा स्वातंत्र्य संभवति अध्यस्तत्वाद अतो अधिष्ठान सत्ता प्रकाशाभ्यामेव सत्ता प्रकाशत्व मनादे नहि मनस मनस्तम मन में जो मनस मनन सामर्थ्यम संकल्पात्मकतम संकल्प वाचो वाक्तम वाग में सब वाग इंद्र में वाक्तम स्वातंत्र नहीं संभवति स्वतंत्र नहीं हो सकता है स्वयं आरोपित है स्वयं अध्यस्त है अध्यस्तत्वात् स्वयं अध्यस्त है जड़ है इसमें सामर्थ्य कैसे आएगा अतो अधिष्ठान सत्ता प्रकाश अभ्याम एव अधिष्ठान की सत्ता से मन की सत्ता मन की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं अधिष्ठान के प्रकाश से मन का प्रकाश अधिष्ठान सत्ता प्रकाश से युक्त होकर के मन में सत्ता प्रकाशत्वम मन की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से मन में प्रकाश अधिष्ठान प्रकाश से मन में जो सत्ता प्रकाश हो अधिष्ठान की सत्ता अधिष्ठान का प्रकाश अधिष्ठान आत्मा इसलिए मन का भी मन कह दिया तच्च अधिष्ठानम निर्विशेषम एव उपलक्षितव्यम और अधिष्ठान निर्विशेष है ये उपलक्षण वृत्तिया कहना पड़ेगा जिसके कारण मन में मनस्तम श्रोत्र में श्रोतत्व शब्दाभासकत्वम वह आत्मा है आत्मा निर्विशेष है इसे उपलक्षण करके बताना जो मन का मन श्रोत्र का श्रोत्र वह निर्विशेष है निर्विशेष नहीं मान करके यदि आत्मा को सविशेष मानेंगे विशेषवत्ते अध्यस्तत्व थे भाव यदि सविशेष हो जाएगा वो भी अध्यस्त आरोपित हो जाएगा सब विशेष अध्यस्त माई कहे कोई भी विशेष मानेंगे आत्मा सविशेष हो जाएगा तो अध्यस्त हो जाएगा अनध्यस्त है निर्विशेष शुद्ध है इसलिए शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष है जहाँ विशेष है सविशेष है वह माईक है ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सविशेष है विशेष धर्म लेकर के ईश्वर है और जो शुद्ध ब्रह्म है उसमें कोई विशेष नहीं है इसे कोई विशेष नहीं होने से वो का नहीं अध्यस्त नहीं अधिष्ठान है विभक्ति द्वारा निर्देश तात्पर्य माह श्रोत्र से श्रोतम कह करके वाचो वाचम वाचो वाचम द्वितीयांत है और सौ प्राण से प्राण प्रथमांत है तो वाचो वाचम द्वितीयांत प्राण से प्राण प्रथमांत दो प्रकार विभक्ति निर्देश किया गया उसका तात्पर्य कहते वाचो इत्यादि वाचो वाचम प्राण से प्राण इति विभक्ति द्वयम सर्वत्रैव द्रष्टव्यम पदवासे में कहा था प्राणस्य प्राण प्रथमांत होने से वाचो हो वाचों को वाचो हो वाक प्रथमांत करना चाहिए क्योंकि सौ प्राणस्य प्राण स प्रथमांत प्राण प्रथमांत है प्रथमांत दो हो गया और वाचम द्वितीयांत एक ही बाकी श्रोत्र मन आदि में तो प्रथमा द्वितीय बराबर है प्रथमांत में जैसे बनेगा द्वितीयांत बनेगा तो प्राण से प्राणम स ये प्रथमांत दो होने से बहु अनुग्रह न्याय करने के वाचो वाचम को वाचो वाक प्रथमांत करना चाहिए इसे कहा था यह वाक्य भाष्य कहते यहाँ दो विभक्ति है वाचो वाचम और प्राण से प्राण प्रथमांत इसके कारण सर्वत दो विभक्ति करना वाचो वाचम प्राण से प्राणिति विभक्ति द्वयम सर्वत्र विद्रष्टव्यम सर्वत्र दोनों विभक्ति प्रथमांत द्वितीयांत दोनों श्रोत्र से श्रोत्र में श्रोत्रम प्रथमांत भी है कि द्वितीयांत भी है दोनों करना मनस मन में एक मन प्रथमांत के द्वितीयांत दोनों का एक रूप बनेगा और प्राण से प्राण में प्राण से प्राण प्राण से प्राणम ऐसे दो करना ऐसा दो क्यों करेंगे कथम उसका उत्तर देते हैं पृष्ठत्वाद स्वरूप निर्देश प्रथम एव च निर्देश पूछा गया केने सितम कह करे कौन प्रेरक है पूछा गया श्रोत्रादि का प्रेरक ऐसे उसका स्वरूप का निर्देश करना चाहिए और स्वरूप का निर्देश प्रथम आया प्रथमांत से प्राण वाचो वाक् सूत्र से श्रुतम ये प्रथमांत करना चाहिए तस्य च ज्ञेयत्वात् इति द्वितीया आगे ज्ञात्वा अतिमुच्य धीरा प्रत्य अमृता भवति इनको जान करके ज्ञात्वा कह कर्म होगा कर्मत्वाद ज्ञेय है ब्रह्म ज्ञेय होने के कारण ज्ञान का कर्म हुआ ज्ञेयत्वात् कर्मत्वमिति द्वितीय भी होनी चाहिए प्राण से प्राणम ज्ञात्वा वाचो वाचम ज्ञात्वा ऐसे प्रकार द्वितीय भी करनी चाहिए टीका में मनादे प्रवर्तक किम स्वभाव इति पृष्ठत्वात् मनादि का प्रवृत्ति का कैसा स्वभाव वाला प्रश्न किया गया तो स्वरूप निर्देश कर्तव्य हो स्वरूप निर्देश करना चाहिए जो प्रवर्तक वो क्या स्वरूप है सच प्रथमया स्वरूप निर्देश करे तो प्रथमांत से कहना चाहिए निर्देशे प्रथमा प्रोक्ता इति स्मरणात निर्देश स्वरूप उपदेश करें तो प्रथमा विभूति और अतिमुच्य धीरः आगे ज्ञात्वा अतिमुच्य धीरा इसे कहा गया इसलिए उसका कर्म होने से द्वितीय भी कहनी चाहिए अतिमुच्य धीरा इति उत्तरम वाक्यम साध्याहारम योजयति साध्याहारम अध्याहारेण सह इति साध्याहारम अध्याहार के साथ बताते हैं भाष्य में अतो वाचो वासम प्राण से प्राण इति अस्मात् सर्वत्रैव विभूतिदम हो गया यदेतत् श्रोत्रादि उपलब्धि निमित्तम श्रोत्र से श्रोतम इत्यादि लक्षणम नित्य उपलब्धि स्वरूपम निर्विशेषम आत्मतत्वम बुद्ध्वा अतिमुच्य अनवबोध निमित्ताध्यारोपिताद बुद्धि विलक्षणा संसारात मोक्षणं कृत्वा धीरा धीमन्तः प्रेत्य अस्मालोकात् शरीरात् प्रेत्य वियुज्य अन्यस्मिन् अप्रतिसंध्यमान निर्मित निर्निमितत्वात् अमृता भवन्ति यदेत श्रोत्रादि उपलब्धि निमित्तम श्रोत्रादि में उपलब्धि का जो निमित्त हुआ श्रोत्र से श्रोतम इत्यादि कहा गया श्रोत्र से श्रोतम इत्यादि लक्षणम नित्य उपलब्धि स्वरूपम आत्म तत्व है निर्विशेष नित्य उपलब्धि स्वरूप है वो निमित्त है नित्य उपलब्धि स्वरूपम नित्य उपलब्धि स्वरूपम से आत्मन निर्विशेषम आत्मतत्वम वही आत्मतत्व निर्विशेष है निर्विशेष आत्मतत्व को बुद्धवा जान करके अतिमुच्य अनात्म में आत्मबुद्धि छोड़ करके अनवबद निमित्त अध्यारोपिताद बुद्धि आदि विलक्षणा संसारात मोक्ष अनुकृत्वा अतिमुच्य का अर्थ किया अनवबद निमित्त अनवबद चाहिए अतिमुच्य अनव बोध निमित्त अध्यारोपिताद अध्यारोपित बुद्धि आदि है आरोपित है बुद्धि आदि बुद्धि आदि आरोपित हुआ उसका क्या कारण है अनव बोध अज्ञान रज्जु के अज्ञान से सर्प आरोपित है इसी प्रकार अधिष्ठान आत्मा के अनव बोध निमित्तम यस्य अनव बोध निमित्त हो गया अध्यारोप अध्यारोपित बुद्धि आदि अनवबोध निमित्त अध्यारोपित बुद्धि आदि अज्ञान के कारण आरोपित बुद्धि आदि उसी बुद्धि आदि से संसारात मोक्षण कृत्वा अतिमुच्य बुद्धि आदि है अनात्मा अनात्मे में आत्मबुद्धि छोड़ करके इसे संसार से मोक्षण कृत्वा अतिमुच्य अतिमुच्य का अर्थ किया अतिमुच्य धीरा अतिमुच्य का अर्थ क्या था पदभाष्य में बुद्धि आदि में भाव को छोड़ करके तो बुद्धि आदि ज्ञान के कारण आरोपित है उस संसार से मोक्ष अनुकृत अपृथक समझ करके धीरा प्रत्यस्मा आदमृता भवन्ति धीरा है धीमत बुद्धिमान प्रत्य पहले कहा था प्रत्य का तो वासना छोड़ करके दूसरे प्रकार से क्या अतिमुच्य शब्द से वासना त्रय का त्याग भी हो जाएगा तो प्रत्यय का अर्थ मृत्वा अस्मालोका शरीरात प्रत्यय लोक शब्द से यहाँ शरीर लिया इस शरीर से प्रत्येक का अर्थ व्युज्य मरण होने पर शरीर का वियोग शरीर का वियोग स्वप्न अवस्था में सुसुप्ति अवस्था में होता है स्थूल शरीर को छोड़ करके चले जाता है फिर जब जग जाता है फिर आ जाता है किंतु मरण के समय में आत्यंतिक वियोग हो जाता है सूक्ष्म शरीर चले जाएगा स्थूल शरीर छोड़ करके और वापस नहीं आएगा जब श्वास बाहर निकलता है ना सूक्ष्म सर कोई बड़ा नहीं जाने के लिए बहुत कुछ करने का जो हमेशा ही श्वास बाहर छोड़ते हैं उसके साथ कभी सूक्ष्म सर चला गया और वापस नहीं आया तो अब किसको आने का कुछ नहीं गया सर समाप्त हो गया तो आ जाता है प्रारब्ध कर्म है इसलिए आ जाता है नहीं तो चला गया तो गया श्वास निकलता उसके साथ चला ही गया तो गया सब छोड़ करके अंदर से निकल गया गया आत्यंतिक वियोग हो जाता मरण काल में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का आत्यंतिक वियोग और अन्य रोज स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का वियोग तो होता है फिर जगत समा जाता है इसलिए प्रत्येक अर्थ क्या अस्मा लोका शरीरात प्रत्यय अर्थ व्युज्य शरीर से वियोग हो गया मरते समय शरीर से वियोग हो गया आगे नया शरीर दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए कोई कारण नहीं रहा ज्ञान होने पर अन्यस्मिन अप्रतिसंध्य माने अन्य कोई शरीर प्राप्त होने के लिए कारण नहीं रहा आरंभ होगा तभी अज्ञान काम कर्म हो तो ज्ञान हो गया अज्ञान नष्ट हो गया तो निर्निमित्तत्वात् अमृता भवति कोई निमित्त नहीं रहा जन्म ग्रहण करने के लिए निमित्त हो तो जन्म ग्रहण करेगा निमित्त रहित हो जाने से अज्ञान नष्ट हो गया कर्म ध्वंस हो गया मुक्त हो जाते हैं न्याय साम्य मन आदि से इसे समझना न्याय साम्य यथोतम व्याख्यान समझना नहीं मनस मनस्तम ये हो गया था क्या बोला एक अच्छा हाँ ये हो गया ठीक है अतिमुच्च धीरा इति उत्तरम वाक्य साध्य होगा एतद् बुद्ध्वा अमृता भवन्ति इति संबंध इसको जान करके मुक्त हो जाते हैं एतद् बुद्ध्वा वासे माया एतद् बुद्ध्वा अमृता भवन्ति इस आत्म तत्व को समझ करके अमृत मुक्त हो जाते हैं तादात्म्यन अध्यारोपित यो बुद्धि आदि बुद्धि आदि आरोपित है तादात्म्यन आत्म तादात्म्यन आरोपित सर्प आरोपित है रज्जु में तादात्म्यन अयम सर्प कहते हैं तादात्म्यन आरोपित हो गया बुद्धि आदि वो अनवबोध निमित्तः संसार ये बुद्धि आदि संसार है किसके कारण हुआ अनवबोध अज्ञान के कारण अनवबोध निमित्तमस्य बुद्धि आदि संसार अज्ञान के कारण ततो मोक्षणम इस संसार से मोक्षण संसारात मोक्षण कृत्वा संसार से मोक्षण क्या है बुद्धि आदि हो गया आरोपित तादात्म्यन आरोपित था तादात्म अध्यास निवृत्ति यही मोक्षण है बुद्धि आदि के साथ तादात्म अध्यास है आत्मा का अध्यास की निवृत्ति अध्यास एकत्व ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति दृष्टम फलम ज्ञान होने पर बुद्धि आदि के साथ जो तादात्म्य अध्यास होता था उसकी निवृत्ति हो जाती है ये ज्ञान का दृष्ट फल है जब ज्ञान हो जाता है बुद्धि आदि से विलक्षण आत्मा में हूँ बुद्धि का साक्षी हूँ जो बुद्धि का साक्षी है वो बुद्धि से भिन्न है बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होता है क्योंकि बुद्धि में चिदाभास रहता है जब बुद्धि को देखेंगे उसमें चेतन का प्रतिबिंब ही रहता है और कहां कहाँ दिखेगा बुद्धि में ही लौह अलग अग्नि अलग लौह को छोड़ करके अग्नि ने देखा है कहीं अग्नि अलग है अग्नि के बिना लौह देखा है लौह अलग अग्नि अलग देखने से एक लोहा को गर्म करने से लाल हो गया तो वहां समझ में आ जाता है अग्नि भिन्न लौह भिन्न किंतु चिदाभास का भी अंतकण के बिना नहीं दिखा और अंतकण चिदाभास विशिष्ट ही दिखता है उसके बिना नहीं दिखा कभी तो चिदाभास अलग चेतन का प्रतिबिंब अंतकण अलग ऐसा भान नहीं होता है चिदाभास के साथ बुद्धि का तादात्म्य अध्यास होता है जैसे बच्चा कहता है घड़ा में जल रखने से आकाश का प्रतिबिंब बच्चा कहता है घड़ा में आकाश घड़े में क्या है कहता आकाश है हिल रहा है जल आकाश का तादात्म्य हो जाता है इसी प्रकार अनादि काल से बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास है अज्ञान के कारण दोनों का भेद मालूम नहीं होता है यदि भेद मालूम हो जाए तो अध्यास नहीं होगा बुद्धि आदि अज्ञान के कारण तादात्म्य अध्यास होता है और उसका मोक्षण हो गया तादात्म्य अध्यास की निवृत्ति ज्ञान हो जाने पर बुद्धि का साक्षी मैं हूँ बुद्धि नहीं हूँ बुद्धि मेरा दृश्य है तो बुद्धि दृश्य होने के कारण जड़ है मिथ्या अनंत और साक्षी है सत्य सत्यानित मितुनि कृत्य सत्य है चेतन आत्मा साक्षी अनृत है मिथ्या बुद्धि दोनों को एक करके तादात्म्य अध्यास होता था जब आत्मा को समझ लिया तादात्म्य अध्यास की निवृत्ति हो जाती है ज्ञान का दृष्ट फल है अनुभव हो जाता है ज्ञान होते ही अध्यास निवृत्ति होती और आगे अमृता भवंती जो कहा है जब तक प्रारब्ध है तब तक तो सरल रहेगा प्रारब्ध क्षय समाप्त होने पर मुक्त हो जाते हैं इसको कहते विदेह मुक्ति ये दृष्ट ने अदृष्ट अभी दिखेगा नहीं अमृता भवंति ति विदेह मुक्तिर अदृष्टम फलमित्यर्थ अमृता भवंति जो कहा गया श्रुति में ये विदेह मुक्त हो जाते हैं ये अदृष्ट फल ज्ञान का कोई दृष्ट फल है क्या दृष्ट फल है अध्यास निवृत्ति और अदृष्ट फल हो गया विदेह मुक्ति कर्मणाम संबंधानुपपत्ति इति श्रेष्ठ आगे भाष्य में सति ही अज्ञाने कर्माणि शरीरांतरं प्रतिसंतदत आत्मा सर्व कर्म आरंभ निमित्त अज्ञान विपरीत विद्या अग्नि विप्लुष्टत्वाद कर्मणा इति अनारंभे अमृता भवन्ति कर्मणां संबंधान उपपति कर्मणाम संबंध कर्मणां कर्मणां इति अनारंभे कर्मणा आगे जो दिया है कर्मणाम क्या के संबंध नहीं होता है पहले भाषा में सति ही अज्ञाने जब तक अज्ञान है तब तक कर्माणि शरीरांतरम प्रतिसंतत आरंभ करते हैं कर्म यदि है अज्ञान है तो कर्म अन्य शरीर आरंभ करेंगे सति अज्ञान अज्ञान मूल बीज बीज अज्ञान है तो कर्म दूसरे शरीर आरंभ करेगा जब अज्ञान नहीं रहेगा तो कर्म आरंभ नहीं कर सकता है आत्मा अवधेतु आत्मन अवबोधे आत्मा का ज्ञान होने के बाद सर्व आरंभ निमित्त अज्ञान विपरीत विद्या अग्नि विपृष्टत्वात् कर्मणा सर्व कर्म आरंभ का निमित्त अज्ञान सारे कर्म का आरंभ होता है अज्ञान के कारण आरंभ निमित्त अज्ञान अज्ञान का विपरीत विद्या अग्नि विपृष्टत्वात् अज्ञानस्य विपरीतेन विद्या अग्निना विपृष्ठत्वात् विपरीत विद्या रूप अग्नि अग्नि से विद्या रूप अग्नि से अज्ञान का दाह होता है शुद्ध चेतन से अज्ञान का दाह नहीं है अज्ञान के विपरीत ज्ञान रूप अग्नि विद्या रूप अग्नि जो महावाक्य से उत्पन्न होता है ज्ञान उसी ज्ञान से दग्ध हो जाता है विपुष्ट दग्धत्वात् कर्मणाम कर्मणाम समदानुपपत्ति ये टीका में दिया कर्म का संबंध नहीं होगा अज्ञान होने से तादात्म्य अध्यास करता था अज्ञान नहीं रहने से कर्म का आत्मा के साथ संबंध नहीं होगा तो अनारंभे अमृताव भवति तो दूसरा सर आरंभ नहीं होगा धन्य सर आरंभ नहीं होगा तो मुक्त हो जाएंगे निमित्त अभावात शरीरांतर आदि अनारंभे अमृता भवन्ति अज्ञान निमित्त नहीं रहने से शरीरांतर आदि अन्य शरीर अन्य योनि आरंभ नहीं होगा सुख दुख आदि अनारंभे अमृता भवन्ति अमृत मुक्त हो जाते इति प्रयोगात आगंतुकत्वम अमृतत्व से इति शंका निवृत्त्यर्थम आह शरीर का आरंभ नहीं होने से मुक्त हो जाते हैं ऐसे शब्द प्रयोग किया तो जब निमित्त नहीं रहेगा दूसरा शरीर नहीं बनेगा तब मुक्त होंगे तो मुक्ति नित्य नहीं है आगंतुकत्वम अमृतत्व से क्योंकि जब अज्ञान नष्ट होगा तब शरीर आरंभ नहीं होगा मुक्त होंगे तो मुक्त होंगे किसी समय तो अमृतत्व जो मुक्ति है वो आगंतुक अनित्य कार्य है नित्य नहीं ये शंका होगी ये शंका निवृत्ति के लिए कहते शरीरादीति इति शरीरादि इति दी दीर्घ चाहिए शरीरादि संतान अविच्छेद प्रतिसंधान आदि अपेक्षा अध्यारोपित मृत्यु वियोगात पूर्वमप्यमृता अमृता संतो नित्यात्म स्वरूपत्वाद अमृता भवन्ति इति उपचर्यते अमृता भवन्ति जो कहा गया ये गौण प्रयोग है मुक्त हो जाते हैं पहले अमुक्त थे आगे मुक्त हो गए आत्मा में मुक्ति तो नित्य है तो भी मुक्त हो जाते से प्रयोग होता है प्रामाणिक है गौण प्रयोग है गौण प्रयोग अप्रामाणिक नहीं है सिंह मानव कह अग्नि मानव कह ये मानव का लड़का अग्नि है तो उसमें कुछ गौण प्रयोग किया जाता है तो लोक में मानते हैं गौण प्रयोग को भी यहाँ भी इस प्रकार अमृता भवंती है उपचार गौण प्रयोग शरीरादि संतान अविच्छेद प्रतिसंधान आदि अपेक्षा शरीरादि का संतान देह इंद्रिय आदि है उसका संतान है प्रवाह फिर शरीर आरंभ होता है शरीर फिर आरंभ होता है नष्ट हो गया और एक शरीर फिर नष्ट हो गया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये संतान प्रवाह ये प्रवाह का विच्छेद नहीं चलता रहता अनादि काल से जन्म मरण का प्रवाह संतान का अविच्छेद अविच्छेद प्रतिसंधान आदि अपेक्षया विच्छेद नहीं होता है उसका ज्ञान हुआ जन्म मरण अहम अहम कर देहादि महाबुद्धि उसकी अपेक्षा आरोपित होता है मृत्यु देह के साथ तादात्म्य अध्यास होने से आरोपित हुआ मृत्यु देह के मरण से अपने में आरोप करता है मृत्यु अध्यारोपित मृत्यु का वियोग हो जाता है ज्ञान होने पर पे अमृतासन तो पहले भी अमृत था आत्मा में शरीर आदि का कोई संबंध नहीं है आरोप करके मृत्यु का आरोप करता था पहले भी अमृत था नित्य आत्म स्वरूपत्वात् स्वयं नित्य आत्म स्वरूप है असंग है असंग आत्मा में कभी भी बंधन है ही नहीं किसी का संबंध है ही नहीं शरीर आदि में जन्म मरण होने पर भी आत्मा में कुछ नहीं है अज्ञान के कारण देहादि में हम बुद्धि करके वो मृत्यु आरोपित होता आरोपित मृत्यु का वियोग हो जाता है ज्ञान होने से पहले भी मुक्त होता हुआ क्योंकि नित्यात्मा स्वरूप है तो पहले यदि मुक्त था अभी और क्या विशेष हुआ अज्ञान नष्ट हो जाने से वो निश्चित हो गया अमृता भवन्ते गौण प्रयोग पहले भी मुक्त था अमृता संत अमृता भवंती अमृत होता हुआ मुक्त होता हुआ केवल अज्ञान व्यवधान था ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो जाएगा कोई मुक्ति रूप स्वरूप कुछ दूसरा मिलेगा ऐसा नहीं अपना स्वरूप जो नित्य प्राप्त हो उसकी अभिव्यक्ति होती है अपना स्वरूप अप्राप्त कभी नहीं है अप्राप्ति का भ्रम था और भ्रम नष्ट हो जाता है अप्राप्ति भ्रम नष्ट होने पर कहते मिल गई माला मिल गई गले में थी माला अज्ञान के कारण भ्रम हो गया खो गई और जो ज्ञान हो गया देख लिया तो कहते मिल गई मिलने का नहीं गले में तो थी मिल गई क्या गौण प्रयोग होता है लोक में इसी प्रकार अमृता भवन्ते गौण प्रयोग उपचरिते गौण प्रयोग उपचार गौण प्रयोग टीका में अनादि भव परंपरया शरीर आसम परस्ताच भविष्यामीति शरीरादि संतान अविच्छेदस्य प्रतिसंधानम धर्मादि अधिकारित्वाध्यास कामादि दोष कल्पनम च एतस्माद् अध्यारोपितो यो मृत्यु तद वियोग अपेक्षया अमृतत्वस्य भवनम औपचारिकम इत्यर्थ इसका अर्थ बताया अनादि भव परंपरा अनादि काल से ये परंपरा है संसार की परंपरा जन्म मरण शरीर आसन पहले शरीर में था शरीर वाला देहवान में पहले था अज्ञान के कारण मानता है परस्ताच भविष्य आगे फिर सर्व ग्रहण करूंगा पुण्य पाप से फिर सर्व सर्व पुण्य कर्म करूंगा स्वर्ग प्राप्त करूंगा फिर शरीर भविष्य में इति शरीरादि संतान अविच्छेदस्य प्रतिसंधान देहादि संतान का विच्छेद नहीं जन्म मरण चक्र पहले से था आगे भी रहेगा इसका प्रतिसंधान अनु अनुसंधान होता है कि जन्म मरण होता है धर्मादि अधिकारी तो अध्यास धर्म अधर्म अधिकारी का अध्यास मैं धर्म धर्मी धर्म करने के लिए अधिकारी कर्म करूंगा कर्म फल भोग करूंगा धर्म अधर्म आदि अधिकारित्व का अध्यास और काम आदि दोष कल्पना च काम क्रोध लोभ आदि दोष कल्पना करता है आत्मा में काम आदि कुछ है ही नहीं अंतकण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास करके अंतकरण धर्म को आत्मा में मानता है काम आदि दोष कल्पन करता है दोष कल्पनम च एतस्माद् अध्यारोपितो एतस्माद् अध्यारोपितो द एतस्माद् अध्यारोपितो मृत्यु अध्यास दोष कल्पन के कारण आरोपित होता है मृत्यु मरण तद वियोगापेक्षया आरोप नष्ट हो गया अध्यारोप नष्ट हो गया मृत्यु का वियोग हो जाता है आरोप नष्ट होने पर अध्यारोप आरोप नष्ट होने से वृत्ति वियोग हुआ उसकी अपेक्षा अमृतत्व से भवनम अध्यास निवृत्त होने से मृत्यु का वियोग हो गया आरोपित मृत्यु का वियोग हो गया पाद में कोई रस्सी लग गई आरोप हो गया सर्प रस्सी को देखने के बाद सर्प रहेगा आरोपित सर्प का गमन नष्ट हो जाएगा सर्प चला गया आरोपित सर्प के वियोग से कहते आरोपित सर्प था उसका वियोग हो गया वो परिहृत से परिहार परिहृत सर्प रज्जु जब लग गई पैर में उस समय सर्प था क्या सर्प नहीं था परिहृत का परिहार हुआ आ देहादि जन्म मरण आदि आत्मा में कभी नहीं था परिहृत उसका परिहार हो गया इस प्रकार प्राप्त से प्राप्ति नित्य मुक्त आत्मा है मुक्ति नित्य है आत्मा में उसकी प्राप्ति अज्ञान नष्ट होने से आरोपित मृत्यु के वियोग का अपेक्षा करके अमृत हो अमृता भवंती अमृतत्व से भवनम अमृत होना यह औपचारिकम गौण प्रयोग है नित्य ही अमृत होने पर भी आरोपित मृत्यु वियोग होने से अमृता भवंती गौण प्रयोग है तो ज्ञान होने पर अज्ञानी की निवृत्ति होने से मुक्त हो जाते हैं वही गौण प्रयोग है फिर भी अज्ञान निवृत्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है हाँ नित्य मुक्ति तो है किंतु अज्ञान के कारण अपने को बद्ध मानता है दशम मर गया कर सौरते हैं अज्ञान नष्ट हो गया दशम ज्ञान होने पर दशम तमसी ज्ञान हो गया तो रोना बंद हो गया तत्तमसी वाक्य से जो ज्ञान हो जाता हम अस्मि ब्रह्म असंग अज्ञान आदि के साथ देह आदि के साथ कोई संबंध नहीं तो अज्ञान नष्ट होने से अध्यास की निवृत्ति जन्म मरण आदि के अभाव से वियोग से मुक्त हो जाते हैं ऐसे प्रयोग होता है ओम आप्यायम तुम ममांगानि